अच्छा एक सिद्धि की विचार पूरी हो गई परिणाम त्रय में संयम करने से अतीत अनागत ज्ञान की प्राप्ति विभूति पाल है ना तो विभूतियों की चर्चा हो प्रासंगिक जो था अष्टांग का विचार पूरा हो ही गया अब उनमें संप्रज्ञा समाधि कर लिया जाए तय का संयम धारणा ध्यान समाधि संप्रज्ञा करोगे ग्राह्य ग्रहण और ग्रहित समापत्ति का भेद पूर्वक समाधि करने पर क्या सिद्धियां प्राप्त होते हैं उन सब का अभेद करके समाधि करने पर क्या सिद्धियां प्राप्त होते हैं उनके विचार आरंभ हो रहा है शब्दात प्रत्याराम इतरेतर अध्यासात संकर तत्प्रभाग संयमात सर्वभूत रुद ज्ञानम शब्द अर्थ और पहले भी प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के में सूत्र पर विस्तृत रूपेण विचार हो चुका था शब्द अर्थ और प्रत्यय शब्द वर्ण ध्वनि रूपा होता है वर्णों का अभिव्यंजक जो ध्वनि है उसको यहाँ शब्द करके लेंगे अर्थ हो गया जाति है गुण है क्रिया है जो बोध हो रहा है वो सारे प्रत्यय हो गया ज्ञान शब्द ध्वनि है अर्थ बाह्य वस्तु है और उस वस्तु का अभिव्यंजक शब्द का प्रयोग होने पर जो आपके मन में या बुद्धि में होने वाला ज्ञान है उसको प्रत्येक इनका अधिकतर क्या होता है इतरेतर अध्यासा ये परस्पर अत्यंत अध्यास पृथक करके कोई पकड़ नहीं पाता है जैसे गौ कह दिया अब कहने से आप क्या मानेंगे इसको तुरंत आपके दिमाग में चित्र बन गया कब से बन गया आपने सोचा भी नहीं ये केवल से भी बोलना चाह रहे हैं कि अर्थ बोल रहे हैं कि ज्ञान की चर्चा है, है? विचार नहीं सुनते ही बराबर वो अर्थ भी शब्द भी ज्ञान सब खिचड़ी आपके दिमाग में तुरंत खड़ा हो जाता है कोई भी शब्द बोले केवल शब्द सुना और उसे ज्ञान नहीं होता हो या केवल अर्थ को देखा और शब्द और ज्ञान ना हो नहीं होता जिसका अर्थ ही आप जानते नहीं शक्ति ग्रही नहीं हुआ उसकी चर्चा नहीं हो रही है यहाँ जिसका आपको शक्ति ग्रही नहीं हुआ आपको ये आप बंगला भाषा कुछ आप बोल दिया आपको बंगाली हो समझ लेगा बाकी कौन हाँ समझेंगे है इसे जिसकी शक्ति ग्रह हो है उनकी बात हम कर रहे हैं वह शब्द और चाण करते ही अर्थ और ज्ञान सब एक साथ हो जाता है ये अर्थ को देखते ही उसका शब्द और ज्ञान होता है यह जब भी आप कहेंगे ज्ञान वासना से जब जाए तो भी शब्द और अर्थ सामने खड़ा हो जाता है मैंने तीनों ही एक साथ अपने मन में अंतकरण में उपस्थित होता है सांकर ही होता है सदा वागर्था विव संपृक्त है ना श्रेय कहा गया वो ऐसा संप्रत है इसको अलग कोई योगी ही ग्रहण कर सकता है साधन व्यक्ति इसे कहते वो शंकर है यदि आपने धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास से शब्द परि ध्वनि परि नाद ब्रह्म योग नारियों का अभ्यास करते करते करते आप इसको पकड़ पाएंगे प्रविभागे संयमा केवल शब्द केवल अर्थ केवल प्रत्यय में आप धारणा ध्यान समाधि कर सकेंगे जब तब क्या स्थिति मिलेगी सर्वभूत ज्ञानम सकल भूतों का बातचीत समझ लेंगे कुत्ते आपस में बोल रहे हैं तो आपको समझ में क्या बोल रहा है उसको क्या आपस में क्या बात हो रहा है पेड़ पेड़ की बात आपको समझ में आ जाएगी पक्षी पक्षी की चिंची करने की भाषा समझ में आ जाएगी दुनिया का ऐसा कोई भाषा नहीं दुनिया का ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जिसका आपके सामने में अर्थ ज्ञान और रहस्य प्रकट न होगा सर्व ये सिद्धि मिलेगी एक बाबा का वर्णन आता है ना इंदौर के पास होते हैं महामंडेश्वर भी पद उनको जबरदस्ती दे दिया लोगों ने है? हाँ? गिरिशान था ना उनका नाम गिरिशान वो पेड़ों से बात करते हो गिरिजान गिरिश पेड़ों से बात करते पेड़ के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ेंगे महाराज हमें बताओ आप अपना गुण बताइए दोष बताइए किस इस काम में आप आते बताइए वो पेड़ उनको अपना बताते बात करते थे तो पेड़ बताता कि भाई मेरा नाम असलियत में ये है शास्त्रों में दुनिया में लेकिन मेरे को ये नाम से पुकार के सब बर्बाद कर दिया मेरा नाम कोई खराब कर दिया है बड़े दुखी होते थे बताते थे जब हम लोग बड़े प्रेम से बातचीत होती थी तो आपको बताया ना कि दुखी है पेड़ पौधे मनुष्य से और किसी से <laughs> इस मनुष्य से पेड़ पौधे सब दुखी और हाँ, फिर बताते थे हमारा ये गुण है हमारा ये दोष है हम अमुक अमुक रोग के लिए दवाई बनते हैं अमुक अमुक रोग के लिए मैं जहर बनता हूँ मेरी छाल का ये लाभ होगा मेरे फूल का ये लाभ है मेरे फल का ये लाभ है मेरे पत्तों का ये लाभ है हर चीज का तो ऐसे भी इसे कलयुग में इस समय में अभी शायद जीवित भी होंगे अभी मिल सकते हैं कभी आप जाओ इंदौर इंदौर से बाहर है थोड़ा खास शहर में हाँ? अब उनको पेड़ तक किसी मित्र रह गए अब क्या करे पशुओं से सिद्धि नहीं मिली पेड़ की सिद्धि मिल गई है पर एक शुरुआत तो हुआ एक दृष्टांत है आपके सामने शहर से बात करने वाले तो हम लोग देखे छोटे महाराज जी छोटे महाराज जी का जीवन में जगह हम लोग देखे व्यक्ति को देखे बात करते हुए नहीं देखे ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आया हम दोनों चल रहे हो और शेर सामने अगर बात किए हो लेकिन प्रसंग पहले हो चुका था जब उन्होंने भी बताया और दूसरों ने भी बताया इन्हीं जंगलों में पीछे जब गए थे तो एकदम शेर आया तो महाराज जी सब घबरा गए परमेश्वरान जी थे सन वाले अन्य लोग थे सब घबरा गए अब तो बस हो गया हम लोग का कल्याण कहा भागेंगे तब उन्होंने कहा महादेव शांत रहो घबराने की जरूरत है वो लाठी नहीं उठा कुछ नहीं कर बड़े जोर से दहाड़ते गए सामने खड़ा अपने नाजन मर्जन महादेव हम जानते हैं आपके स्थान में हम बिना आपकी अनुमति का आ गए आप इस जंगल के राजा हैं लेकिन आपके लिए हम रास्ता छोड़ रहे हैं राजा का स्वागत में आप अपने मार्ग जाइए और हमें अपने जाने का रास्ता दीजिए अब वो हम्म, चुप शांत हो गया बल्कि उल्टा प्रणाम किया बोलते हैं वो चला वार्तालाप तो हुई ना इनकी बात तो समझ रहा है लगा के शांत होता काट के खाता हूँ खाने के लिए आया है नहीं देते तो मान संत है तो चुपचाप छोड़ के चला फिर महाराज जी आगे जाने को तैयार हुए तो कहते महाराज यहीं से चलो वापस कहीं फिर कहीं और आ जाए कहते कुछ नहीं जब राजा की अनुमति मिल गई जंगल में घूमने को क्या कौन पूछने वाला चलो महाराज हो लगेगा भाव के ऊपर निर्भर है सारी चीजों आपकी भाषा अगला समझ लेता वो भी आपकी भाषा समझ सकता है लेकिन अंदर से पहले से भय बैठा हुआ है ना नाम से भय है हवा भी चाहे तो क्या होगा सांप कहते ये कहा है पूछेगा तुरंत है ना पहले से ऐसे घुसा पड़ा है ना वो अभय पद की प्राप्ति तो होना आसान थोड़ी इसीलिए और जब प्राप्त कर ले उससे तो किसको भय है न विवेक कुतश्च न विवेक कदाचित हाँ, इसलिए कहते यहाँ पर भी है सर्वभूत ज्ञानम समझा रहे तथा वाक वर्णेशु एव अर्थवती ये जब वाक इंद्रिय है ना वर्णों का अभिव्यक्त करके प्रयोजन वाली होती है ऐसा और कोई काम नहीं अर्थ नहीं बता सकती हाँ, अर्थ बता सकती है क्या वाणी तो केवल वर्णों को अभिव्यक्त करती है उन वर्णों से क्या अर्थ प्रतीत होगा ये तो आपकी अपनी व्यवस्था है है ना हर भाषा में देखो अलग अलग होता है आजकल जो क्या करते हैं यू लिखते हैं यू वाई वो यू पहले जमाने में था गया हो जमाना अब यू केवल यू लिख देते ईमेल वगैरह में आप देखेंगे आर के लिए आर ये लिखेंगे आर लिख दिया उसका अर्थ ये आर ही समझना पड़ेगा बताओ क्या है वो भाषा को बिगाड़ रहे हैं कि बना रहे हैं ये तो आप जाने वो जाने लेकिन वो वर्ण अभिव्यक्त तो हुआ उससे क्या अर्थ निकलेगा ये तो व्यक्ति व्यक्ति पर अलग हो जाता है अब यहीं पर इतने लोगों को सुना रहे हैं इस वाणी से जो निकलता है शब्द का क्या अर्थ है हाँ, कौन जाने अब अपने अपने मस्तिष्क के हिसाब से अपने अपने वासना अपने अपने संस्कार के आधार पर कोई शब्दों को कोई और भावार्थ निकाल लेता है कोई कुछ भावार्थ निकाल लेता है वो अपने लक्ष्यार्थ लेता है कोई कुछ और ढूंढता है और सबको इसलिए हेरा फेरी पर ज्ञान हो रहा है ना एक समान ज्ञान हो रहा है क्या शब्द सबके सामने वही निकल रहा है, है? उतनी ही वेग से जा रहा है ये नहीं की एक किले थोड़ा तेज से जा रहा है दूसरा कम जा रहा है तो गुस्से में जा रहा है कहीं ऐसे तो बात ही नहीं सबको समान रूप में सबके कान में गया लेकिन शब्द का ज्ञान जो आपके अंतकरण में पैदा हुआ सबके लिए अलग अलग हुआ और इसलिए पूछा जाए आज आपके पाठ में आपने कौन से शब्द को पकड़ा जो आपके लिए अत्यंत अच्छा लगा तो सबको लिख दे बोलो सब अलग अलग शब्द क्यों शब्द अपने वासना आपकी उपाधि की महिमा है इसलिए वाणी से वर्ण मात्र विव्यक्त होता है अर्थ से, से कोई लेन नहीं वाक जो इंद्रिय है वो क्या करती है वर्णोच्चारण करने में ही वो अर्थवान होकर के चरितार्थ होकर के छोड़ देती है और श्रोत्र क्या करेगा श्रोत्र ध्वनि परिणाम मात्र विषय जो ध्वनि का परिणाम आ रहा है बस उसको पकड़ना पकड़ना उसका काम है और पकड़ करके वो आगे छोड़ देता है लेकिन और कोई लाभ नहीं वो न अर्थ बता सकता न ज्ञान को दिखा सकता बता सकता कुछ नहीं उसे काम के लिए इधर का उधर करना चमचागिरी इसी बोलते हैं चमचागिरी इधर का उधर उधर का इधर करना उसका काम वही राज इंद्रियों का है इनके अपने अपने विषयों के साथ संबंध मात्र करते इंद्रिया और इनका काम और कुछ जैसे वाणी वर्णों को उच्चारण करने में सक्षम मात्र है और आगे उसका कोई काम नहीं है श्रोत इंद्र केवल आया हुआ ध्वनि को उधर से अंतकरण तक पहुंचाना उसका काम है उसका और अर्थादि के प्रति में कोई हाथ नहीं है पदम पुनर् नादान संहार बुद्धि निर्ग्राह्य इन पद और पदार्थ कौन ग्रहण करता है वो कैसे ग्रहण करती है बुद्धि पदम नादान संहार कैसे करेगी बुद्धि कदे देखो वो जो नाद आए थे वर्णा व्यंजक जो ध्वनिया जो निकली थी और जो कान ने लेकर के आप तक पहुंचाया है उसको बुद्धि क्या करती है उन वर्णों को प्रत्येक को ग्रहण करती है नादों को अनुसंहार करना नादों को पहले ग्रहण करने के बाद अनुसंहारता है नादान गृहत्वा अनुसंहर दी नादों को ग्रहण किया और अनुमने पश्चात ग्रहण करने के पश्चात क्या किया संहार किया संहार में नाश नहीं उसको एकत्व को प्राप्त करा दिया हरेक को ये अलग अलग आया क्योंकि एक कालावच्छेद सकल वर्णों को कोई उच्चारण नहीं कर सकता न कोई ग्रहण कर सकता है क्रमेण ही होगा और क्रम निश्चित हर भाषा और उस क्रम क्या निर्णय कौन ले रहा है यदि क्रम के विक्रम से ग्रहण कर लेगी बुद्धि तो शब्दार्थ नहीं निकलेगा बुद्धि के ही पता इधर क्या बोला है ना जो क्रम पकड़ में नहीं आया कई बार आप लोगों को श्लोक वगैरह लिखाते तो एक शब्द बोलते हाँ फिर बोले फिर हाँ करते क्यों कर रहे हैं क्योंकि पकड़ा नहीं ना बुद्धि को क्रम पकड़ में नहीं आई अब एक ही बार हम श्लोक बोले और पूरा प्रक्रम आप पकड़ लेंगे है हाँ हाँ करोगे क्या जरूरत ही नहीं क्रम पकड़ में आ गया फटाफट लिखते जाओगे इसे जहां तक आप क्रम पकड़ रहे हैं वहां तक तो साफ लिखते जाओगे जहाँ क्रम पकड़ा नहीं तो आ बोलना पड़ता महाराज दोबारा बोलिए इससे आगे क्या ये जो क्रम महत्वपूर्ण है और क्रम का ही निर्णय करता है संहार वर्णों का अभिव्यंजक ध्वनि को श्रवण ने पकड़ करके जब बुद्धि को देता है वह बुद्धि उन नादों का उन वर्णा वर्ण ध्वनियों का वर्णाभिव्यंजक ध्वनियों के आधार पर क्रम पूर्वक उसका उपसंहार करती है जब संहार कर लेती है तब बुद्धि क्या करी उस समय पद को ग्रहण कर लगी अर्थ नहीं अभी केवल पहले पद को ग्रहण कर पद को ग्रहण करने के पश्चात अब अर्थानुसंधान होगा उसके अंदर में विद्यमान जो कोष है ना कोष डिक्शनरी जितना बचपन से सुना है शब्दों को उन सब के अर्थों के साथ अंदर ग्रहण कर रखा है शक्ति ग्रह हुआ जितनी भी अपने भीतर विद्यमान कोष में से वो छांक कर देख लेगी इस शब्द का हमारे कोष में क्या अर्थ है और फिर उतनी तेज करती है बुद्धि काम है मन और बुद्धि मिल करके प्रसंग वसंग प्रकरण वकरण जितने भी सब पकड़ लेते हैं और निश्चय करते हैं इस शब्द का यही अर्थ है अब इतना तेजी से होता है वो प्रविभाग जो पूर्वक होता वो वस्तु आपको सुस्पष्ट नहीं होता दृष्टान अलाद चल हलाद चक्र होता है ना ठीक उसे तो लोहे का एक गोल चक्र बना दो उस एक कोने में आग लगा कपड़ा बांध दिया मिट्टी तेल डाल दिया उसे जला दिया और इतना तेज उसको घुमा देते हैं आपको लगता है अग्नि का एक चक्र है और उसके बीच उस आदमी आ रहा है कुछ उड़ गया कुछ निकल आया लेकिन वास्तव में अग्नि का चक्र ही नहीं है एक कोने में अग्नि है पूरा चक्र होता तो मर जाए आग लग जाए उसको तो इतने तेज से घुमाते हैं उस चीज को उसके लपट बाहर की ओर ही रहता है अंदर में आपका बिल्कुल गर्मी भी महसूस होती इसलिए आराम से चला जाता है बाहर अंदर बाहर लेकिन है वो एक किनारे लेकिन एक चक्र के समान दिखाई देता उसी पर यहाँ पे हो रहा है चक्र चक्र लेकिन चक्रवत यहाँ एक समुदित होकर के अंदर अनुभव वर्णा एक समय असंभवित क्यों ऐसे क्योंकि वर्णों को एक कालावच्छे देना युगपत उत्पन्न करना उच्चारण करना असंभवित फिर कैसे हो रहे हैं परस्पर निरनुग्रह आत्मान क्योंकि इनके उच्चारण करने के लिए एक दूसरे का संबंध की जरूरत नहीं है घटा बोल रहे हो और केवल घ भी तो बोल सकते हो नहीं बोलते हैं केवल भी अलग बोल इसे घ उच्चारण के लिए ट की अपेक्षा नहीं ट उच्चारण के लिए घ की अपेक्षा परस्पर निरपेक्ष निरनुग्रह परस्पर असंबद्ध स्वभाव वाले होते हैं वर्ण इनके संबंधों को उच्चारण के क्रम के आधार पर उसने शब्दार्थ ज्ञान किए तब आकांक्षा योग्यता सन्निधि बहुत महत्वपूर्ण हो गया सन्निधि ये क्रम का निश्चय सन्निधि पर निर्भर होता है सन्निधि के आधार पर योग्यता तो होती है उस योग्यता के आधार पर आकांक्षा इनके इनके साथ निर्णय ले लिया जाता है इसलिए कहते कि देखो यहाँ पर भी एक प्रत्यय एक समय वर्णों का अभिव्यक्ति करना असंभव है और इसलिए भी असंभव है क्योंकि परस्पर इनका कोई अपेक्षा ही संबंध ही नहीं है ते पदम असंस्पृश्य अनुपस्थाप्य आविर्भूत स्थिरोभूतास्थिति क्योंकि वे जो होते हैं वर्ण वे पदों को बिल्कुल संस्पर्श नहीं करते हैं पद संस्पर्शी नहीं है पदोत्पादिका वर्ण नहीं होते हैं और पद को ऐसे उपस्थापित किए बिना नष्ट हो जाते अब जहाँ लंबा नाम है या कोई लंबा शब्द है तो, तो पहला उच्चारण के कितने देर तक रहेगा त्रिक्षणावस्था ही मानते और दस अक्षर है तो दस क्षण तो हो गए ना होंगे तो पहला वाला जो उच्चारण किया हुआ था अंत वाले उच्चारण करने के काल में रहेगा वो नहीं रहेगा इसलिए पदोपस्थापक कैसे वर्ण नहीं हो सकते इसे कहते हैं वे वे जो वर्ण अनुपस्थाप्य पद को उपस्थापित भी नहीं कर पाते हैं पद संस्पर्शी भी नहीं होते पद उपस्थापक भी नहीं होते बस अपने आप में आविर्भाव हो गया और त्रिभाव उस आविर्भाव त्रिभाव जो हुआ वर्ण ध्वनि को आप बुद्धि क्या करती है चिंतन पूर्वक उसका क्रम तय कर लेती है इसके बाद इसका उच्चारण हुआ इसके बाद इसका उच्चारण हुआ जब अंतिम होता है तो वहां पर क्या होता है खले कपोत न्याय से सरल के सरल बसते खले कपोत न्याय जानते हैं नहीं जानते क्या होता है कपोत कबूतर खल मन बदमाश नहीं खल मने खलिहान यहाँ पर है ना खल मने खलिहान में जिस प्रकार से चिड़िया आते हैं तो कैसे आते हैं खाने के लिए चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो सब इकट्ठे उड़ के आए खाने और आपने ताली बजाए तो उड़ेंगे कैसे पहले जवान उड़ जाएंगे बाद में बूढ़े धीरे से जाएंगे ऐसा होता है नहीं एक साथ उड़ जाओ इसी प्रकार से यहाँ पर भी अंतिम वर्णोच्चारण होते ही बराबर आपकी बुद्धि के समक्ष सभी के सभी का एक साथ अर्थ उपस्थिति हो जाती है सर्वर्ण का अथवा संस्कार एक साथ वर्ण उपस्थित नहीं होते उस ध्वनि का जो संस्कार बुद्धि ने ग्रहण कर रखा है वो संस्कार और सब वर्णों के संस्कार को लेकर के वो पदार्थ निर्णय कर लेती है बुद्धि इसे कहते हैं केवल आविर्भाव होकर की किरवा होकर तो बेचारे वर्ण तो चले गए प्रत्येकम अपद स्वरूपा उच्चुंद और इसलिए प्रत्येक वर्ण क्या है पद स्वरूप नहीं होता अब इसमें कोई निर्णय नहीं है कहीं एक वर्ण भी पद से चौप हो गया पद है वो अनेक करते उसका चौ का चार अर्थ आपने मान लिया ना अनवाच समुच्चय इधर इधर हो गए जो इस तरह से जो कहीं एक वर्ण भी पद है और कहीं अनेक वर्ण भी इसे कोई निर्णय नहीं वर्ण पुनर् एक ही का पदात्मा इसलिए वर्ण जो है प्रत्येक वर्ण पद का उपादान कारण पदार्थ ने पद का आत्मा शब्द से उपादान कारण पद का विव्यंजक होने के नाते वर्ण जो है उसका उपादान कारण वर्ण का विव्यंजक कौन है ध्वनि इसे ध्वनि उसका उपादान कारण ध्वनि है वर्ण का उपादान मैंने कारण जिसे भाषा में समय कारण करते हैं और योग और वेदांत उपादान कारण कहेंगे तो ध्वनि वर्ण का उपादान कारण है वर्ण पद का उपादान कारण और पद पदार्थ का उपादान कारण है पदार्थ पदार्थ ज्ञान के प्रति उपादान कारण एक दूसरे प्रति कार्य कारण भाव है सर्वाविधान शक्ति प्रचित इसलिए प्रत्येक वर्ण में किसी भी अर्थ का विधान करने की शक्ति है है ना जैसे देखो सिंगा है है ना आप सिंह में उल्टा कर दो हिंसा हो गया अब वही ह है वही स है वही मात्रा वही बिंदु लेकिन क्रम आपने इधर उधर कर दिया वो अर्थ ही बदल गया लेकिन जो हकार सिंह में है वही हिंस में है या नहीं कि दूसरी हकार है ह तो है ही दूसरी हो जी तो अनंत वर्ण मानना पड़ जाएगा तो बत्तीस कहा जाए आई वो ट्रिक तीसरे आपको मानना पड़ेगा वर्ण तो वही है लेकिन सिंहा में जो विद्यमान हकार याद शर्त को प्रतीत प्रत्यायक होता है हिंसा में रहने हकार तार शर्त के प्रत्यायक नहीं होता वह अन्यार्थ प्रत्यायक हो गया अर्थात हकार में वह अर्थ भी प्रतीत कराने का अधिकार क्षमता है यह अर्थ प्रतीत करने का क्षमता यह था तो हरि में भी हकार है है ना हरा में भी हकार है लेकिन सभी अपना अलग अलग अर्थ का प्रत्यय क्या है अतः हकार के अंदर अनेकार्थ प्रत्याकत्व विद्यमान है इसी दृष्टान समझो सकल वर्णों में इसे कहते सर्वे वर्णा सर्वाभिधान शक्ति प्रसिद्ध सबल वस्तुओं का कथन करने की शक्ति से युक्त है सहकारी वर्णांतर प्रतियोगिता बस इतना ही है सकल अर्थ का बोध कराने के लिए उन वर्णों को अन्य वर्णों की भी अपेक्षा जैसे हकार को सिंह में ई मात्रा की जरूरत है बिंदु मात्रा की जरूरत है सकार की भी जरूरत है तब वो हकार क्या है सिंगार बोध कराएगा और हिंसा में भी वहां भी जरूरत है लेकिन क्रम अंतर हो गया हरा में अलग है हरी में ई मात्रा जुड़ गई र के अलावा है ना कहीं तो कुछ अलग जुड़ जाते और कहीं क्रम बदलने से विचित्रता है इसलिए कहते हैं हरेक वर्ण में सर्वशक्ति सर्वार्थ बोधकता रहते हुए भी स्वतंत्र नहीं है केवल हा बोल दो हा से सिंह भी बोल दिया हरि भी हो गया हर भी हो गया सबको अर्थ हो जाएगा एक साथ नहीं जब तक साथ से वो र नहीं बोलेंगे या री नहीं बोलोगे है? तब तक अर्थ बोध नहीं होगा इसे कहते सर्वार्थ बोधकता होने के बावजूद भी सहकारी वर्णांतर प्रतियोगी है सहकारी जो वर्णांतर में दूसरे वर्ण जो होते हैं उनके सहयोग से ही वो अनेक अर्थ बोलते हैं और अपने आप में प्रत्येक वर्ण का कोई अर्थ नहीं मिलकर के अनेक मिलकर के एक दो तीन एक अपने आप में अर्थ बोलेगा नहीं तो बच्चों में भी और जोड़ना पड़ेगा शुद्ध वर्ण लेंगे तो च तो हाँ हल है व्यंजन है वो सब कोई अर्थ नहीं होता जब अ जुड़ गया अच्छा पूरा बन गया तब अर्थ हो गया अपेक्षा हिसाब से है कि नहीं इसे कहते कि देखो ये जो बात है रूपयम युव आपन्न इसलिए अनेक अर्थ का बोधक के समान हर एक वर्ण हो जाते हैं वैश्वरूप्यम मैंने अनेक अनेकार्थकत्व इव आपन्न कौन वर्ण का विशेषण ऐसा कोई समझा रहे अभी भाई सहकारी वर्णांतर का मतलब क्या तो देखो पूर्वच्च उत्तरेण उत्तरश्च पूर्वेण विशेषे अवस्थापिता इतम बहवो वर्णा क्रमानुरोधिनो आत्म संकेतेन अवच्छिन्ना इयंत एते सर्वाभिधान शक्ति परिवृत्ता ककार ओकार विसर्जनीय शासनादिमंतम वर्तम यथा द्योतयंती देखो पूर्वश्च उत्तरेण उत्तरश्च पूर्वेण आकांक्षा को रहे ये तो होता है ना आकांक्षा में आकांक्षा योग्यता समिति में आकांक्षा यही होता है घ को ट के प्रति ट को घ के प्रति परस्पर आकांक्षा होती है वही कहते पूर्व उत्तरेण और उत्तर पूर्वेण विशेष अवस्थापित विशेष में जो अवस्थापित कर दिया जाए इतम भव वर्ण इस प्रकार बहुत वर्ण भी मिलकर के क्रमानुरोधी न अब आया क्रम योग्यता के लिए क्रम बिगड़ गया तो योग्यता अलग अलग हो जाता है इसलिए कर्मानुरोधिन और क्रम में भी विच्छेद नहीं होना चाहिए यहाँ का साथ साथ आपको सन्निधि भी समझ लेना चाहिए अर्थ संकेत अवच्छिन्ना अर्थ विशेष का संकेत से वह क्रम और उतने वर्णों की परस्पर क्या है निश्चय हो चुका है अवच्छिन्न हो चुका है ऐसा ही बोलेंगे तो ये अर्थ निकलेगा ऐसा बोलेंगे तो वो अर्थ बड़ा विचित्रता है देखिए केवल शब्द का बोलने में ही नहीं बोलने के समय उसे कितना वजन दिया जा रहा है किस भाव से बोला जा रहा है वो अंतर हो जाता है शब्द वही है कोई फर्क नहीं बोलने बोलने के तरीके में क्या जोर से बोल रहा है वो हम आराम से बोल रहा है शांति से बोल रहा है प्रेम से बोल रहा है है ना अलग अलग भाव पर तो गाली देते हुए बोल रहा है साला जैसे साला शब्द होता है साला तो साला है लेकिन वास्तव में साला आ है उनको आइए साला साहब कहीं तो कोई नाराज होगा क्या वो साले साहब तो ही है वो आए ठीक है और दूसरे को कह दो तो बस वो उल्टा हो जाए शब्द वही है प्रयोग एक से किया तो कोई नाराज ही नहीं दूसरे से किया तो नाराज और बंगाली में तो हर भाषा हर शब्द के साथ जोड़ देते हैं कोई भी शब्द शुरू करने से पहले यही शब्द होता है ये मंगलाचरण उनका <laughs> उसको बोले भी ना बोलते ही नहीं वो कहते शुभ शब्द है ये क्यों रामश परमंशी यही से ही बोला करते थे हर बात से पहले ये शब्द बोलते थे इसलिए मंगलवाचक है अब अपनी अपनी बात क्या करें उसके लिए इसे ये निर्भर है ना आप किस भाव से बोल रहे हैं कौन बोल रहा है किस स्थिति में बोल रहा है सब कुछ निर्भर है एक नहीं अर्थ का निर्णय करना इसलिए बहुत कठिन था लेकिन आप लोग अनायास सारे अर्थ कर लेते हैं बड़ा आश्चर्य की बात <laughs> इतने घंटों से बोलते जाते हैं और सब शब्दों का अर्थ विज्ञान होते जाता है तो एक माहौल में है ना इसको नहीं तो फिर बिगड़ेगा काम होती इसलिए आप कहते देखो कि एक इतनी संख्या में वर्ण और ऐसे ही इतने ही क्रम से क्रम से कहा वर्ण सर्वाविधान सिद्ध प्रवृत्ता यदि सकल अर्थों का कथन करने की शक्ति से युक्त है फिर भी जैसा दृष्टांत से समझा रहे गकार है फिर उसके बगल में औ लिख दो औकार फिर उसके बाद विसर्जनीय रख दो तब क्या हो गया वो ओहो ये किसका बदल हो गया शासन आदिमान अर्थ विशेष का द्योतन करने वाला हो गया तीन वर्ण मिलकर तदेतेषा अर्थ संकेत अवच्छिन्ना नाम ध्वनि क्रमाणाम ये एक बुद्धि निर्भाष तत्पदम वाचकम वाच्य संकेत वाच्य का संकेत करने वाला वाचक पद उसे माना जाता है जो क्या है जब बुद्धि निर्भाष कर लेती है बुद्धि प्रकाशन कर लेती है किस चीज को अर्थ संकेत अवच्छिन्ना नाम उन वर्णों को जो अर्थ संकेत से परिच्छिन्न है क्रम से निश्चित है उपसंहृत ध्वनि क्रमाणा जिसके ध्वनि के क्रम को सम्य प्रकरण अनुसंहार किया हुआ है एकत्र ग्रहण कर लिया गया है ऐसा वैसा के सब यह एको बुद्धि निर्वास उन सब को मिला करके जो एकत्र बुद्धि में प्रकाशन होता है उसी का नाम पदम वाचक किसकी वाच्य का तद एकम बुद्ध पदम एक बुद्धि विषय एक प्रयत्नाक्षिप्तम अभागम अक्रमम अवर्णम बौद्धम अंत्यवर्ण प्रत्यय व्यापार उपस्थापित वह एक पद कैसे प्रकट हुआ बुद्धि में एक बुद्धि का विषय कैसे हो गया वो तद एकम पदम एक बुद्धि विषय होता एक प्रयत्न से आक्षिप्त आपने इतना लंबी पंक्ति भी बोली है वह एक प्रयत्न माना जाएगा वाक्यार्थ बोध के प्रति सब किसे मिला करके एक ही प्रयत्न माना जाएगा और एक पद के लिए यहाँ से जितना भी वर्ण है सर्वोच्च सभी वर्णोच्चारण करने का जितना प्रयास होता है वह सब मिला करके प्रत्येक वर्ण का भी अलग अलग हो रहा है प्रयत्न फिर पद दृष्टिया वो सब मिला करके उनको एक प्रयत्न माना जाएगा एक प्रयत्न साक्षित है लेकिन इसलिए वहां टुकड़ा टुकड़ा नहीं है अभागम गो अलग भाग है तो अलग भाग है तो अर्थ नहीं निकलेगा घटो एक साथ लिया आपने अभाग पूर्वक ग्रहण करते हो अभाग पूर्वक ग्रहण मतलब असन्निधि नहीं होनी चाहिए सन्निधि होनी चाहिए अभी घ बोलो शाम को ता बोल दो तो कैसे अर्थ होगा उसका आदमी क्या समझेगा अब आपने बोल दो गाय और शाम को बोल दो लाओ वैसे आप कहे ग्रहण करेगा गाय लाओ कैसे ग्रहण करेगा वो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा भाग पूर्व कथन नहीं करना अभागम कथन करना चाहिए और अक्रम क्रम भी उल्टा पुल्टा नहीं कर देना तभी नहीं ग्रहण होगा उसको इसलिए अक्रम और सात विशेषण और दे रहे हैं आवरणम केवल वर्ण नहीं बोलने का आवरण भी नहीं बोलना हम कर देना क्या है वो भाई बोलो तो कही है ना आदमों में खा जाते हैं बोलते हैं बड़ा मुश्किल होता है और क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में नहीं आता है तो दूसरे को क्या समझ में खुद को समझ में नहीं आया उनको क्या बोले वहां कई बार जो हमारे पुरुषोत्तम जी बोल देते हैं तो रूप चलाते वक्त फिर हम बोलते क्या बोला आपने मैं तो ठीक बोला बोल और नहीं पता नहीं क्या मुख से निकल गया ऐसे कई है सबके साथ होता है दृष्टांत यहाँ सबके साथ है और उन्हें क्यों तो, उनके भाव तो सही थी लेकिन वो अभिराज जो हुआ ना अंदर में टकराव तालवादी वो गड़बड़ा गया कुछ और बाहर चला गया अब वो अपने सोच रहे मैं तो सही बोल रहा हूं ये अधिकतर लोगों को होता है इसलिए अति आवश्यक इस चीज पर ध्यान देने की है कहते कि आवरणम आवरणोच्चारण नहीं होनी चाहिए बौद्धम ये सब बुद्धि से गृहित हो जाने से बौद्धम अंत्यवर्ण प्रत्य व्यापार उपस्थापित अंत्यवर्ण का ज्ञान से जन व्यापार से सारे के सारे उपस्थापित हो जाते हैं तब क्या होगा परत्र प्रतिपादेशया वर्णरेव अवधीयमाण ही श्रियमाण श्रोत्री अनार्य वाक व्यवहार वासना विद्या लोक बुद्धिया सिद्धवत संप्रतिपत्या प्रतीयत है तो उसने जो ग्रहण किया है परत्र प्रतिपादिशिया दूसरों को प्रतिपादन करने की इच्छा से हम बोल रहे हैं तब क्या होता है ऐसा करने से और स्पष्ट हो जाता है ज्ञान पक्का होता है आपने जिस शब्द का जो अर्थ लिया है ग्रहण किया है वो कहाँ तक सही पता कैसे चलेगा जब व्यक्ति बोलता है जो शब्द प्रकट करता है अवश्य भी लाल था टमाटर भी था पिक्चर भी देखा है और बेटा ने पढ़ लिया है A for apple T for tomato है कि और जुगान में दिखाया कहते क्या है एप्पल भी हो सकता है टमाटर भी हो सकता है ऐसा रहेगा बड़ा मुश्किल होता है जब बच्चे बड़े विदेश में बच्चे ना तो बड़ा मुश्किल है उन लोगों की तो कुछ अकल नहीं है इस विषय में और गाय देख के हैरान रहते हैं भारत में तो गाय सड़क पर घूम रहा है कि क्या है पूछते बच्चे गाय अरे गाय ऐसा होता है बड़े छू के बड़ा खुश होते कुछ तो मिला ही नहीं वहां था डिब्बे में फोटो कभी देखा था है डेयरी मिल्क आते ना वो बार कैडबरीज का चॉकलेट उसे गाय का चित्र है उसको देखा है बस यही गाय है और वैसे दिखेगा क्या बाहर भी वो तो बना रखे मोटा तगड़ा काला सफेद बना रखे है और यह तो ऐसे तो दिखाई उसके जैसा कोई दूसरा जानवर है गाय नहीं अनुभव है कुछ विदेशी बच्चे एक बार आए हम लोगों के साथ यहाँ तो बड़ा आश्चर्य तो समझ में नहीं आ रहा कि तो वहां तो शहर से बाहर जाना पड़ेगा कोई फार्म में जाना पड़ेगा तब तो गाय दिखेगी जो पले जन्म ले शहर में रह गए उनको तो गाय का दर्शन ही नहीं और यह सहज में सब जगह कई बार शब्द है उसका अन्य प्रकार से अर्थ ज्ञान है वस्तु सामने हो जाए उस वस्तु का पहचान नहीं पा कई बार ऐसे होता है ना आपका नाम जानते हैं लोग लेकिन आपको कभी देखा नहीं सुने हैं अमुक महात्मा होते हैं है वहां पर वहां जाते हैं आपसे पूछते हैं आप वो है या वो कहाँ है ये पूछते हैं हमसे कई बार हो गए हमसे आगे पूछते हैं हम उनसे मिलना चाहते हैं बताओ कहाँ है हम बोलते अंदर बैठो अभी आ रहे हैं <laughs> तो क्या कहें हम ये बोलेंगे तो कहेंगे तो घबरा जाएगा उसी से उसे बोले और तब तो अंदर बैठिए अभी आ रहे हैं वो भी सोचता है कोई सेवक होगा तो गुरु जी को बुला के लाएगा <laughs> कई बार ऐसे घटना हो गया कि उनके दिमाग में है ना वो होगा मोटा लंबा चौड़ा तगड़ा होगा विद्वान कोई आचार्य ऐसा होगा वैसा होगा तो कल्पना है, है? कल्पना के अनुरूप जब नहीं होता है तो, तो या तो सेवक की कल्पना होती है जैसा वैसा सेवक जैसे दिखता है कई बार इसका मतलब क्या है शब्द अर्थ और वस्तु ज्ञान शब्द और ज्ञान तो सभी के पास हो सकता है लेकिन अर्थग्राहिता सभी के अंदर अर्थग्राहिता में समस्या है नहीं तो एक वेद का अनेकों भाषी में सूत्र एक ही ब्रह्म सूत्र एक ही गीता है सैकड़ों व्याख्या हो गई क्यों सभी के पास शब्द और ज्ञान है पढ़ लिया व्याकरण वगैरह धातु वातु पढ़ लिया धातु यार वो अर्थ दुनिया में धातु मने का अर्थ अपने में से कोई भी अर्थ नहीं देता है और धातु मने कार आप तर्क भी नहीं दे सकते मुझे ऐसे सारी युक्तियां हैं बड़ा मुश्किल है इन लोगों को समझाना अब देखो अर्थ ग्रहण में सारा काम खराब हुआ है ना शब्द में नहीं हुआ कुछ भी धातु पाठ है और उसको जिसका उसने अपने अर्थ ज्ञान उसके पास थी उसके अगर उसने वाक्यार्थों को निर्णय ले लिया सैकड़ों भाष्य हो गए सैकड़ों अर्थ निकल रहे हैं अनेकों संप्रदाय होते जा रहे हैं अर्थ ज्ञान सम्यक अर्थ ज्ञान होना इसके लिए इतनी बात कह रहे हैं योगी के बिना किसी भी चीज का यथार्थ ग्रहण नहीं तो क्रमारोजनो शक्ति प्रवृत्ता इसलिए कहते हैं श्रीमान इष्ट केवल इतना ही नहीं अविधीयमान ही परत्र प्रतिपिपादेश वर्ण ही रेव अविधीयमान ही श्रूयमाण आप कथन कर रहे दूसरा सुन रहा है श्रूयमाण वर्ण ही श्रोत्रिभिर अनाद भाग व्यवहार वासना विद्या श्रोता क्या कर रहा है वर जो ले रहा है कहते देखो अनादि जो वाग व्यवहार है उससे जो वासना से अनुविध्य बुद्धि है उसका इसलिए अपने अपने मर्जी से अपने अपने हिसाब से वर्त लिया जाता है धन विद्या लोक बुद्धिया सिद्धवत संप्रतिपत्या प्रतीय सिद्धवत में वृद्धान संवाद आदि के द्वारा शक्ति ग्रह अनेक प्रक्रिया है ना व्याकरण से कोश से सिद्ध वृद्ध व्यवहार से प्रसिद्ध पद सन्निधित कोषात इत्यादि अनेकों हेतुओं से अष्ट प्रकार से माना गया शक्ति ग्रह की प्रक्रियाएं तो किसी भी प्रकार से क्या कर लेता है लोक बुद्धिया सिद्ध वस्तु प्रतिपत्या उसको सिद्धवत निश्चय पूर्वक ग्रहण कर लेता है तस्य संकेत बुद्धि संकेत रेफ है संबनाओ तस् संकेत बुद्धि प्रविभाग एतावता एवं जातीय को अनुसंहार एक अर्थ से संकेत बुद्धि से आप निर्णय लेते हो प्रविभाग करके ऐसे वर्णों को ऐसे क्रम से इस तरह से बोलने पर उसका यह अर्थ होता है इस प्रकार से निर्णय हो गया एक अर्थ से वाचक वह वर्ण समुदाय एक अर्थ का वाचक होते संकेत तो पद पदार्थ और इतरेतर अध्यास रूप स्मृत्यात्मक संकेत क्या है कुछ लोगों ने ईश्वर इच्छा कह दिया ना ईश्वर इच्छा संकेत अस्मात् पदार्थ अयम अर्थो बोधव्य ईश्वर इच्छा वही शक्ति ईश्वर संकेत ही शक्ति ईश्वर की इच्छा ही शक्ति है ऐसा नहीं है कार्य मानते कहते हैं वह बात बासीय पद का पदार्थ के साथ इतरेतर अध्यास रूपा स्मृति में याद स्वरूप आपके द्वारा गृहित है वही उसका संकेत हो गया इसलिए एक ही शब्द का पद पदार्थ संबंध को लेकर के इतने तो अध्यास रूपा हर व्यक्ति का स्मृति के अंदर अलग अलग रूप में हो सकता है और आपकी अपने स्मृति में याद शर्त स्थित है वही अर्थ ले लो आगे देंगे एक शब्द पता नहीं लगता है वो संज्ञा है कि क्रियापद है कि वाचक है और जिसके आपकी अपनी मर्जी है जितने जब आप स्मृति में आ जाए उसे वो अर्थ ठोक देगा उधर लगा दिया अब हाँ, उससे अर्थ बिगड़ जाए प्रकरण का उल्टा हो जाए कुछ हो जाए उसको तो अब उसको सिद्ध करने में लगा रहे क्यों उसके दिमाग वो अर्थ है ना वो कीड़ा अंदर काटेगा उसको यही अर्थ लो उसका दूसरा अर्थ मानेगा नहीं दूसरा अर्थ उसकी स्मृति में है नहीं स्वीकार करेगा नहीं वो तो क्या होता है वो गलत अर्थ को लिए ही चलते रहता है ये व्यक्ति का स्वभाव और ये कहां से आया उसको कभी तो उसकी स्मृति में कैसे आया था वही पूर्व में जवाब दे चुके अनादि वाग व्यवहार से सिद्ध वासना से अनादि वाग व्यवहार जो चले आया है पुण्य व्यवहारों से सिद्ध वाद जन्य वासना उस वासना से युक्त अंतकरण के कारण से व्यक्ति के द्वारा ऐसा होता है संकेत तो पद पदार्थ इतरेत अध्यास रूप स्मृत आत्म ने स्वरूपम यश स्मृत्या स्मृति रूपा ऐसा नहीं ना स्मृति में ही निश्चय होता है स्वरूप जिसका योयम शब्द स्वयं अर्थ यो अर्थ स शब्द इतम इतरेतर विभाग रूप संकेत भगवती जो ये गौ शब्द है वो ये गौ पिंड है जो ये गौ पिंड है इसे के शब्द है इस प्रकार से शब्द का अर्थ के साथ इतरेतर अविभाग स्वरूप जो होता है उसी को संकेत कहते हैं वही उसी का नाम संकर भी होता है संकर हो चुका है इतने शब्दार्थ प्रत्यय इतरित अध्यासा इस प्रकार से शब्द अर्थ और प्रत्यय इतरित अध्यास के कारण से संकीर्णता को प्राप्त हुए हैं जैसे गौर शब्दों अर्थ अर्थो की ज्ञानम ये ये शाम प्रयोग ससरित और इनके विभाग को जानने वाला है वही सर्वित होता है